है लेकिन कुल प्रभु मोही हो लेकिन हे प्रभु आपने हमारा विस्मरण कर दिया प्रभु रहे हो दीन बंधु भगवान हे दीन बंधु भगवान आपने हमको भुला दिया विसारे को तो बने ये नहीं है कि आप जो भुला दिए यहाँ जो है कि हमसे पूछते हो तुम कौन हो तो इसके माने है कि मैं कौन हूँ ये आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस समय <clears throat> मैंने हनुमान जी ने भी इस प्रकार से कह करके मानो अपना परिचय दे दिया कि हम भी आपके भक्त शंकर हैं हाँ? शिव हैं <clears throat> आपका ध्यान कर किया करते हैं आपका निरंतर स्मरण करते रहते हैं तो यदि हम आपको न जान पाए तो ये तो स्वाभाविक बात है माया के कारण माया के अधीन है लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं आपसे ये बात छिपी नहीं आप क्यों हमसे इस प्रकार से पूछते हैं तो मैंने इस प्रसंग में यद्यप हनुमान जी इस प्रकार से बोलते हैं लेकिन तुलसी राष्ट्रीय का मंतव्य ये है यदि जीव भगवान से प्रार्थना करता है पूजा आराधना करता है और उसके सामने भगवान नेत्रों से न दिखाई दे मन बुद्धि से समझ में ना आए तो हो तो उसे समझ में ना चाहिए कि वो माया के अधीन है इसके कारण से परमात्मा को नहीं जानता लेकिन वो ये न समझे कि हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं तो वो भगवान भी हमको नहीं देख रहा वो भी हमें नहीं जानता ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान तो सबको जानते ही जानते हैं सबके हृदय में बात करते हैं और सबके हृदय की गति को जानने वाले हैं इसलिए हमारे मन में कैसी क्या स्थिति का आती है वो सब जानते हैं तो अब ये जब एक ये बात भी आगे देखो एक के साथ कई कई बातें सब आ जाती है ये कहते हैं क्योंकि हम माया के बस में है तो माया के बस में होने पर क्या क्या होता है तब माया बस फिर हूँ भुलाना माया के बस में मैं भुलाया फिर रहा हूँ तो एक ये हो गया कि उनके माया के बस में होता है उसकी बुद्धि मंद हो जाती है वो मोह के बस में भी होता है मोह मैं मैंने वो सत्य को नहीं जानता है मिथ्याई को सत्य समझता रहता है और उसका जो वो हो तो अज्ञान में होता है और फिर उसके हृदय में कुटिलताएं आ जाती है अब हनुमान जी ने मैंने एक प्रकार से भगवान से माफी मांगी अरे साहब हम तो हनुमान हैं लेकिन विप्र बन करके आपके सामने आए हैं तो आप हमको विप्र कर रहे कह रहे हो कहते थे विप्र फिर हम खोजते थे ही तो आप हमको विप्र ही करके मान रहे हो ये तो उचित नहीं आप तो जानते हो कि मैं हनुमान हूँ यशु हूँ ये सब आप जानने वाले हैं मैं विपरिप्र नहीं आगे चल करके विप्र रूप हनुमान जी अभी प्रार्थना कर रहे हैं विप्र रूप ही में लेकिन कही दिया कि हम विप्र नहीं है <clears throat> हम क्या है ये आप समझेंगे तो हमारी कुटिलता थी हम छद्म देश बना करके आपके सामने आए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हम आपके हैं और फिर विप्र रूप भगवान के सामने वहीं छोड़ दिया उन्होंने और हनुमान रूप धारण कर लिया क्योंकि हनुमान रूप होकर के ही उनको लीला करनी थी जैसे भगवान राम पुरुष रूप होकर के नर रूप होकर के लीला कर रहे थे ऐसे हनुमान जी को भी बानर रूप बन करके लीला करनी थी तो वो फिर उनके भगवान के सामने ही बानर बन जाते हैं एक अंतर कथा और भी इसके संबंध में है वो ये आती है कि जब हनुमान जी इस प्रकार से भगवान को स्मरण दिलाते हैं ये तो एक पुराण की कथा पुराणों में भी भगवान के राम की कथा तो सभी पुराणों में किसी न किसी प्रकार से आ जाती है भगवान के अवतार की लीलाओं की कथा भागवत में भी आती है यदि भगवान कृष्ण की कथा प्रधान रूप से उसमें है लेकिन भगवान राम की कथा भी आ जाती है उसमें जब सब कल्प कल्पों के अवतारों की सब कथाएं आती हैं तो भगवान राम के अवतार की कथा भागवत में भी आ जाती है ऐसे कलम पुराण में भी आ जाती है और और पुराणों में भी आ जाती है तो वहां पर एक कथा इस प्रकार से आती है कि जब भगवान राम बाल रूप में थे पांच छह साल के थे तब कहीं भगवान ने देखे बानर देखा तो बगीचे बीचे में कोई तो वो फिर ये कहने लगे कि एक बानर हमें भी चाहिए बानर लाओ अभी बानर देख बंदर चाहिए बंदर के साथ चाहिए अब जैसे बच्चे मचलते हैं किसी चीज के लिए <clears throat> जैसे ही भगवान बानर के लिए मचलने लगे एक बानर चाहिए तो तमाम बानर पकड़ पकड़ करके एक बानर लाया गया भगवान के पास भगवान ने कहा नहीं ये बानर नहीं चाहिए दूसरा बानर लाया गया यार ये नहीं चाहिए यार ये बेकार है ये अच्छा नहीं है ये अच्छा नहीं है <clears throat> तो जितने बानर आते थे वो खबीस बानर उछल कूद करें और भगवान को साथ जो है वो सौम्यता उन बानरों में नहीं थी तो भगवान को कोई बानर पसंद नहीं आया तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि वशिष्ठ जी महाराज बताइए ये तो कोई इनको बानर पसंद नहीं आता बानर मांगते हैं बानर को पसंद नहीं आता इनको तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा करो कि अंजनी का एक पुत्र है बानर जी है तो अंजनी एक बानरी थी उसका एक पुत्र था तो कहा कि देखो उसको लाओ वो इनको पसंद आ जाएगा तब लोग और भेजे गए अंजनी के पास और उसको उनका पुत्र जो आंजनेय इसी प्रकार से फिर हनुमान जी का एक नाम आंजनेय अंजनी के पुत्र कहलाते हैं तो फिर हनुमान जी को वहां से लाया गया लाया तो जब हनुमान जी भगवान के पास आए तो आते ही बड़े सौम सीधे साधे अभूषण के बंदर को सुने बड़े सौम्य भाव से भगवान को आकर के उन्होंने प्रणाम किया वंदना की उनके पास बैठे प्रेम के साथ उनके साथ बैठे भगवान राम को प्रसन्न आ गया हाँ बहुत अच्छा बनकर तो फिर हनुमान जी फिर बाल्यकाल में भगवान राम के साथ वहाँ अयोध्या में दिन रहे <clears throat> फिर जब वो बड़े हो गए भगवान राम भी बड़े हुए <clears throat> और ये विश्वामित भी आए भगवान राम को लक्ष्मण दे करके जाने लगे उनको तब हनुमान जी से भगवान राम ने कहा कि अच्छा तुम जाओ अपने माता पिता के पास और फिर वहां से तुम दक्षिण हमको वहां मिलना तब हम वहां आएंगे तब तुम हमको मिलना तो फिर जो वहां चले गए अब इसमें भगवान हनुमान जी के जन्म की कथा आंजनेय तो है माता का नाम तो अंजनी है लेकिन पवन पुत्र भी ये कहलाते हैं अंजनी के जो पति थे उनके भी पुत्र कहलाते हैं लेकिन एक बार जो है ये है अंजनी जो थी ये बहुत ये पहले अप्सरा थी एक साप के कारण से एक बानरी हो गई अब देखिए लोग अप्सराओं अप्सराओं को साथ दे देते हैं अप्सराएं अपने सौंदर्य में और बड़े अभिमान में और बड़े इस प्रकार से सब लोग अपना नाटक चाटक करती हैं तो ऋषि लोग उनको उससे जब बहुत परेशान होते हैं तो साथ दे देते तो हमारे सामने क्या बदरिया की तरफ नाचते सूचते और क्या बदरिया तो वो बंदरिया हो गए अंजनी हो गई ऋषि ने साथ दे दिया तो बंदरिया होकर के रहना पड़ा उनको लेकिन एक बार वो अपने उसी उसी स्वभाव के कारण से पूर्व स्वभाव अप्सरा स्वभाव के कारण से बड़ी बनी ठनी खूब विवेक पर्वत के ऊपर बैठी हुई थी तो पवन देव जब चलते हुए सब जगह विचरण करते रहते हैं पवन देव तो उन्होंने जब उनको देखा तो पवन देव ने उनका आलिंगन इत्यादि किया और वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई पवन देव से मिलकर के तो हनुमान ने पवन देव से फिर उनको गर्व हुआ और फिर जो पुत्र हुआ वे हनुमान इसलिए पवन पुत्र हनुमान कहलाते हैं उनके पति उनके जो अंजनी के पति जो है ये तो इस प्रकार से फिर हनुमान जी के संबंध में कथाएं आती है पद्म पुराण इत्यादि से मिल जाती है वहाँ पर और वहीं से फिर जो है ये है ये इनको हनुमान को हनुमान पर कैसे हो गया नाम इनका जब ये अन्य पुत्र से पैदा हुए और पवन के पुत्र थे ये तो ये बड़ी शक्तिशाली थे और बड़ी तेज गति इनकी हवा की तरफ चलने वाले और वायु की शक्ति आप जानते हो वायु वेग और वायु शक्ति कितनी शक्तिशाली है ऐसे बड़े शक्तिशाली है भी थे तो ये बचपन में एक बार उन्होंने सवेरे सवेरे सूर्य उगता हुआ दिखाई दिया लाल लाल बोला तो समझा है ये तो अच्छा फल लगा हुआ है ये तो बंदर फल खाते हैं तो फल खाने की इच्छा से जल पड़े और उसको बल लेकर के सूर्य को लेकर के अपने मुंह में डर लिया सच्चा तब तब आप जानते हैं जब हनुमान जी तुलसीदास जी उनकी बंदना इत्यादि लगा तीनों लोग भय सारा अंधकार होने लगा तब <clears throat> जो है उन्होंने लोगों ने ऋषि मुनि देवताओं ने बताया जाकर इंद्र को कि अरे ये तो हनुमान जी जो पवन पुत्र सूर्य को ही निकल जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा <clears throat> सब जगह अंधेरा हुआ जा रहा तो इंद्र जल्दी जल्दी दौड़े अब ये सब व्यवस्था रखना सब देवताओं की सूर्य देव अपने स्थान पर सकुशल बने रहे चंद्रदेव अपने स्थान पर सकुशल बने रहे सूर्य अपने धर्म का पालन करते रहे इन सब देवताओं के राजा इंद्र हैं तो इंद्र दौड़ पड़े वहां से आकर के उन्होंने जो देखा कि तो मुंह धरे हुए हनुमान जी जो है उनको सूर्य को तो उन्होंने मारा वज्र वहीं से खेल करके इंद्र ने तो वज्र उनको में लगा करके है तब उनका जो है वो उन्होंने से सूर्य को तो निकल दिया उन्होंने निकाल दिया लेकिन उनका हन माने हनुमान छोड़ी हनुमान के माने टेढ़ी होगी उनके हनुमान जी की छोड़ी टेढ़ी होगी वज्र के कारण इंद्र के कारण तो वही हनुमान जी है हनुमान जी की शक्ति उनकी कथा को समझो थोड़ा तो ये पता चलता है कि कैसे कैसे इनकी शक्ति थी कैसे कैसे ये हुए अवतार होकर के अब वो शंकर जी के अवतार होकर के आए थे पवन पुत्र होकर के आए तो हनुमान जी के साथ में कई बातें जुड़ी हुई थी तो ये हनुमान जी जो है वो ये कहते हैं भगवान राम से कि मैं तो माया मोह में पड़ा हुआ जीव की तरह से भटक रहा हूँ आपको तो ये सब ज्ञान है ही है आप हमसे क्या पूछते हो कि मैं कौन हूँ क्या हूँ आगे कहते हैं देखो जगति नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु पर जन भोरे नाथ जीव तब माया मुहा तो निस्तर तुम्हारे छोहा पर मैं रघुवीर दुहाई निकट भजन उपाय सेवक सुतपति मात भरोसे सोच बनई प्रभु पोषे कई परे चरण तुलाई निज तनु प्रगत प्रीति उछाई सब रघुपति उठाए उड़ लावा

ते असे मति न करे हनुमंत मन सेवक सचराचर रूप राशि भगवन रामचंद्र की जय परम हनुमान भगवान की वंदना करते हुए आज और बोलते हैं वो इसमें आता है एक जगह ये भी आता है कि हनुमान जी से जब भगवान राम ने पूछा कि अपना परिचय बताओ तुम कौन हो तो हनुमान जी ने भी अपने परिचय बता दिए तीन परिचय बता दिए एक परिचय ये बता दिया कि आप अगर भगवान राम हो पुरुष रूप धारण किए हुए तो मैं भी शरीर से हनुमान बानर और आपका सेवक हूं ये भी अब जैसे इसमें बता देते हैं कि सो माया वस्त्र ये जीव का परिचय है कहते जीव भाव से अगर देखें तो अगर आपके कि हम अंश हैं यदि माया के बचने हैं लेकिन आप अंशी हैं हम अंश हैं दूसरा परिचय ये है और तीसरा परिचय एक और कोई शरीर ही थोड़ा होता है जीव शरीर हो या जीव हो जीव के बाद वो अपना उसका वास्तविक स्वरूप क्या है आत्मा है तो आत्मा की दृष्टि से परमात्मा का क्या संबंध है वहां कोई अनुशंसी संबंध नहीं है वहां जो संबंध है वो हो एकता का संबंध है अनन्यता का संबंध है जो आत्मा है वही परमात्मा है तो ये दोनों पक्षे बता दिए अब देखें इसमें ध्यान तुलसीदास की जगह जगह सब बातें आती हैं संस्कृत का श्लोक है उसमें इस प्रकार का अनुवाद आता है यहाँ पर जो ये देखते हैं हनुमान जी भी अपना बच्चे को भगवान का जो वंदना करते हैं उनकी महिमा गाते हैं तो इस प्रकार से उनका अपना परिचय भी हो जाता है कि क्या है जीव किस प्रकार से क्या क्या भी पूछते हैं कहते हैं जगत नाथ बहु अवगुण मेरे सेवक सेवक प्रभु परिजन भोरे हनुमान जी कहते हैं भगवान हम तो आपके सेवक और यद्य बहुत से हमने अवगुण दुर्गुण बहुत से हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप उनको भुला दें ये कहते हैं यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे सेवक मैं तो यद्य बहुत से अवगुण है लेकिन आपका सेवक तो हूँ इतनी बात तो है तो सेवक होने के नाते अब कहते सेवक के दुर्गुणों को मत देखो कहते प्रभु ही पर जन भोरे कहते आप हमारे स्वामी हैं ये बात आप बताने नहीं हमें याद रखें कि हम आपके सेवक हैं तो हमारे दुर्गुणों का भी आप स्मरण करें क्षमा करते रहें ना जब जीव तब माया मोहा हे भगवान ये जीव जो है अब मैंने एक सिद्धांत की बात कहते हैं जो बहन ना देखो एक प्रकार के रूपालन में भी है यह भगवान जीव करे तो क्या करे वो जीव जो माया के बस में है तो ऐसा तो नहीं है जीव में खुद अपने आप माया रच करके अपने आप अपने बंधन में पड़ गया हो ये तो सब आपकी लीला है आप ही की माया है और उस माया ही ने आप हमको घेर करके मोह में डाल दिया ज्ञान में डाल दिया तो हमारी ये दशा हुई तो उसका कारण आप न हो तो सही नाप न सही आपकी माया तो है ही है उसका कारण हम्म। इसके माने है जो बांधे सुई छोड़े ये सिद्धांत भक्तों का एक है कि आप उसी माया ने बांधा तो आप ही छोड़ो अब जो भक्त की कथा विस्तार से कहने जरूरत नहीं हमें पूरी याद भी नहीं है एक ऐसा भक्त था उसमें मालूम हुआ कि गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु की कृपा से ही जीवन के सभी दुख दूर होते हैं इसलिए उसके पास जाते तो वो शिष्य जो है गुरु के पास पहुंचा और गुरु को प्रणाम किया और कहा वंदना की कि हम आपके शिष्य हैं कृपा करके हमारा उद्धार करें तो गुरु ने देखा कि शिष्य हमारे पास आया तो गुरु ने कहा कि बिना परीक्षा दिए अपने मन में सोचा बिना परीक्षा दिए अभी इसको तो अपना शिष्य कैसे बनावे पता नहीं कि हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा जिस रास्ते हम बताएंगे चलने के लिए करे नहीं करेगा क्योंकि अध्यात्म मार्ग तो संसारी मार्ग से उल्टा मार्ग हर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता बताओ तो उसे वो करता नहीं तो पता नहीं हमारी बात को मानेगा कि नहीं मानेगा ऐसे सोच करके गुरु ने जो उसको शिष्य को अच्छा तो, तो गुरु समझते हो अगर तुम हमारी शिष्यता स्वीकार करना चाहते हो जैसा बताया वैसा करोगे हाँ करेंगे गुरु ने एक रस्सी लेकर के में मार दिया तो मैं कहा कि बस तुम यही बंदे रहो पलंग जैसे ठंडी के सारे खड़ा किया चार तरफ से लेकर रखते उसकी छाती में पैर और सब जगह डाल दी अब ठंडे के साथ खड़ा अब गुरु चला गया इतनी देर में गुरु के और शिष्य थे वे वहां पर आए और देखा अरे एक आदमी यहाँ पर खंभे में बंधा हुआ है तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हें खंडे में कहने बांध दिया उन लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि गुरु महाराज जो है उनको खंडे में बांध दिया अरे लाऊ तुमको खोल दो तो आकर के उनको खोलने लगा तो ना नहीं खोलना नहीं खोलना नहीं तो हट गए बोले क्या क्यों कहा कि देखो ये तो गुरु ने बांधा है जिसने बांधा है वही खोलेगा तो नहीं खोल सकते तो।, तो देखो गुरु भक्ति के उधर और ज्यादा आगे कथा नहीं कहते गुरु भक्ति की उदाहरण से भगवान की भक्ति को देखो अब वो उसका प्रतीक इस प्रकार का बन गया उस कथा में कि अगर भगवान ने हमको बांधा है तो हम भगवान ही जब खोलेंगे तो खुलेंगे और कोई अगर खोलना भी चाहे हमको तो कह रहे तुम खोलने वाले कौन होते हो अगर एक जीव चाहे दूसरे जीव को खोल दे तो खोल नहीं सकता और खोल सकता भी नहीं अगर कोई जीव दूसरा अभिमान भी करे कि चलो दूसरा जीव एक अज्ञान के बंधन में माया के बंधन में पड़ा तुम तो खोल दे तो दरअसल बात है कि सभी एक एक खंभे में बंधे हुए हैं वे क्या एक दूसरे को खोल देंगे इसलिए बांधने वाला है तो वही परमात्मा है उसकी माया है और खोलने वाला भी तो वही परमात्मा है लेकिन इस बात को भी थोड़ा समझना चाहिए ये जब भगवान राम ने पिछले कांड में लक्ष्मण जी को जो उपदेश दे रहे थे तब ये वहां पर एक दुहा आया कि माया ईस न आप कहूं जान कही ये सो जीव बंध मोक्ष प्रद जीव कहूँ माया प्रेरक शिव वो ईश्वर तो वो है परमात्मा तो ये बंद मोक्ष प्रद जो बंधन में भी डालने वाला है और मुक्त भी करने वाला है तो लोगों को बड़ी अड़चन पड़ती है इस बात को समझने की दसवीं बात क्या है है ये कि भगवान की माया भगवान की विलक्षण शक्ति है और वो अपना कार्य करती है और करती है तो करने दो भगवान भी को, को जब वो करती है सही जगत की रचना करे जीव भाव उत्पन्न करे इस माया का काम है <clears throat> लेकिन माया जीव को छोड़ नहीं सकती वो छोड़ने वाला भगवान ही है तो भगवान जब व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो माया को आदेश दे करके माया उनके नियंत्रण में हटा देते हैं तो जीव का बंधन छूट जाता है तो जब ये कहते हैं कि वही परमात्मा ही जीव को बांधने वाला तमार्थ तो ये लगाना चाहिए परमात्मा किसी का हित नहीं चाहता वो बांधता नहीं वो तो उनकी माया ऐसी विलक्षण है कि वो जीव भाव उत्पन्न कर देती है अज्ञान पैदा कर देती जीव में लेकिन छोड़ने वाला जो है वो भगवान स्वयं है उनकी माया नहीं है तो फिर ये क्यों साक्षात नहीं कहते कि माया बांधती है और भगवान छोड़ते हैं उसको तो ये बात यह है कि माया भी भगवान से कोई भिन्न वस्तु नहीं है दो चीजें नहीं है भगवान और भगवान की माया तो सुनते सुनते तो ऐसा लगता है जैसे दो दो चीजें हों जैसे घट अलग है और मिट्टी अलग है जैसे जल अलग है तरंग अलग है कहिए तो भिन्न कहना तो अलग अलग लगता है बोलते हैं तो। लेकिन न भिन्न भिन्न नहीं इसी प्रकार से परमात्मा उनकी माया अलग अलग नहीं है तो जब छुड़ाने वाली बात आती है तब ये समझो कि वही भगवान भगवत्ता रूप होकर के भगवान रूप होकर सब स्वरूप होकर के व्यक्ति को जीव को चला देता है और वही परमात्मा माया रूप होकर के जीव को बंधन डाल हम्म। इस प्रकार से कहते हैं सो हनुमान जी कहते हैं कि नाथ जीवता माया मोहा यहां वो बात यहां आ जाती है उस दोहनी के बात भगवान ने कही थी कि देखो जो बांधने वाला है वो छोड़ने वाला है तो यहाँ ये कहते हैं कि तो जीव तब माया मोहा हे भगवान आपकी माया के तो मोह में जीव को डाल रखा है इसके कारण मनुष्य निस्तरे तुम्हारे ही छोड़ा अब अब इसमें तो कोई समझ आप नहीं होगी बात ये तो सो निस्तरे उस तो जीव का निस्तार कैसे हो मैंने उसको मुक्ति कैसे प्राप्त हो तुम्हारे ही छोड़ा जब आप उसके ऊपर कृपा करो छोड़ो मैंने कृपा करना माया